बोलो श्याव रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की नमः Christ. सुत हनुमान की जय बोलो भरी सब संतन की जय नमः should be निष्पट सात्विक निस्वार्थ शरणागत ऐसा हम करते हुए वर्ण रघुवर विमल जसु गायक फल हम रघुवीर के विमल यश का गुणगान करेंगे जिनकी कृपा प्रसाद से हमको जीवन में चारों पुरुषार्थों की चार प्रकार के विशिष्ट फलों की सिद्धि हो जाए पिछले हम सत्रों में ये विचार कर रहे थे कि बड़ा एक मजेदार प्रश्न सामने आया था कि गोस्वामी जी महाराज जो है वो हनुमान चालीसा लिखने जा रहे और संकल्प क्या लेते हैं वर न हो रघुवर विमल जसु जोदाय तो फल चार तो हम रघुवीर के विमल यश गाएंगे तो हम लोगों ने पूछा था महाराज जी आपकी राम भक्ति तो सिराखों पे धन्य है आप जी आपकी राम जी की भक्ति आपके वजह से रामायण हमको मिली आपके वजह से ही हमारे देश समाज जन जन में राम जी का ज्ञान यश कीर्ति लोगों को सुनने को मिल पाई जानने को मिल पाई लेकिन महाराज जी आप हनुमान चालीसा लिखने जा रहे हो भूल गए क्या और यहां पर भी आपने जो है राम जी का यश चालू कर दिया अब जब अगर संकल्प लिया है कि हनुमान जी की हम चालीसा उनके गुणगान लिखने जा रहे हैं तो फिर ये बात क्यों हाँ, बीच में बीच क्यों आ गई हम्म? बड़ा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि हनुमान चालीसा में क्या राम जी का यश गाया जाएगा कि हनुमान जी का गाया अब देखो हनुमान जी तो भगवान के भगत है पहले भक्तों की महिमा जाननी होती है जो भगवान के भक्तों की महिमा जानता है वही भगवान के पास जा सकता है इसी के सत्संग करते हैं संतों का संग करते हैं संत जो है भगवान के भक्त हैं सेवक हैं दूत भी हैं हमारे गुरुदेव भी भगवान के अंश हैं हमको भगवान तक ले जाते हैं यही हम लोगों की भारतीय संस्कृति है सनातन धर्म है यहां पर बड़े बड़े विद्वान आचार्य लोग भी आते हैं और बोलते हैं कि भैया देखो हमारे गुरुदेव की कृपा से भगवान की कृपा से हमको भी आनंद आ गया हम भगवान से एक होकर जीते हैं रमते हैं आनंद लेते हैं लेकिन कभी भी ऐसे संत लोग वेदों की शास्त्रों की महिमा का उल्लंघन नहीं करते ये बोलते हैं कि यह शास्त्र ये हमारे गुरुदेव ने कहा है ये वेदों में कहा है ये उपनिषद में कहा है ये तुम्हारी गीता ने कहा है रामायण ने कहा है अब कहने को तो ये भी हम बोल सकते हैं हमने कहा क्योंकि हम भगवान से अलग नहीं रह गए लेकिन देखो यही यहां मर्यादा है भगवान ने कहा है शास्त्र ने कहा है और जहां पर भी ये परंपरा नहीं होती है आप समझ लो कि ये भटक गए परंपरा से आजकल बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को ही भगवत स्वरूप कहते हुए उस मर्यादा का पालन नहीं करते हम ही सब कुछ हैं ये कोई नए नहीं आजकल हमारे हिरण्य कश्यपु भी उन्होंने भी बोला सब भगवान विष्णु के मूर्तियां हटाओ मंदिरों से हमारी लगाओ अब आजकल किसकी किसकी मूर्तियां लग रही हैं भगवान जाने आप ही लोग भी जानते हो सभी है अभी हमने पढ़ा कोई अखबार में कोई हैदराबाद के पास आंध्र प्रदेश में बल्कि तेलंगाना क्षेत्र में सोनिया गांधी माता जी की देवी जी की मूर्ति स्थापित हुई बोलो माता जी की जय <laughs> क्यों करा उन्होंने ऐसा वो तेरे हम लोग इतने सालों से तेलंगाना के लिए प्रार्थना कर रहे थे यही माता जी ने करा और यही माता कितनी आतुरता रहती है और बाकी अनेकों की चालीसाएं हैं तो आजकल हमारे लालू जी की चालीसा भी आ चुकी उनके भी भगत हो गए हम्म। तो बहुत बढ़िया बढ़िया इस प्रकार से लोग होते हैं बड़ी जल्दीबाजी में ठीक है भैया तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारी जगह पे तुम किसी की वंदना करना चाहो तो हम कौन है रोकने वाले लेकिन हमारे परंपरा का लक्षण ये होगा कि जहां पर आपको जो मिलता है सीधे परमात्मा का श्रेय सब किसी व्यक्ति का नहीं हम लोग अपने यहां पे वेदांत आश्रम में वेदांतों का अध्ययन करते हैं आपको पहले पहला श्लोक हम लोग प्रार्थना में क्या करते हैं सदा शिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा हम उस गुरु परंपरा को नमन करते हैं जो साक्षात महादेव जी से प्रारंभ हुई है और जिसमें एक से एक महान आचार्य संत लोग आए और फिर हमारे गुरुदेव ने हमको यह ज्ञान दिया तो जो हमको ज्ञान मिलता है वो सब संतों की कृपा से मिलता है सत्संग की इसीलिए तो महिमा होती और हनुमान जी बहुत बड़े संत इसीलिए जब हनुमान चालीसा लिखने जा रहे हैं तो हनुमान जी की वंदना करना आवश्यक है ठीक है वो इनकी महानता इसीलिए है क्योंकि राम जी के भगत हैं शरणागत हैं लेकिन हनुमान चालीसा में कोई किसी प्रकार का अपवाद नहीं होना चाहिए तो गोस्वामी जी रघुवर विमल जसु कहां से आ गया हा? तो हम लोगों ने विचार करके देखा था बड़ा सुंदर रहस्य है इसमें बोलते देखिए हम लोग यद्यपि हनुमान जी के ही गुणगान गाने वाले हैं प्रारंभ गुरु ने भले कहा कि हम रघुवर के विमल यश गुणगान गाएंगे लेकिन प्रारंभिक चौपाई से चालीस चौपाइयां पूरी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर केवल हनुमान जी के गुणगान गाए जाते हैं उसमें किसी प्रकार का अपवाद नहीं हुआ लेकिन एक महिमा है एक शास्त्रों का रहस्य है जिसने गीता के दसवें अध्याय का रहस्य जाना जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विभूति योग बताया बोला अर्जुन तुम महान का देखना सीखो किसी संत की महिमा देखो दुनिया में हमारे अनेकों देवताओं को देखो सूर्य को देखो अग्नि को देखो वायु को देखो पवन देवता देखो अनेकों देवता देखो लेकिन पता देवता देखने का रहस्य क्या होता है जब किसी को देखो इतनी सुंदरता से देखो इतनी गहराई से देखो कि तुमको उसके अंदर भी तुम्हारे राम दिख जाए अगर तुमको किसी को देखने में राम नहीं दिखाई पड़ रहे हैं तो फिर वो तो राम नहीं कामदेव जी आए हैं हाँ। और तुमको भटका देंगे और यही संसार में उलझ जाओगे यहां पे हमारे संत गीता के अंदर भगवान बोलते हैं अर्जुन पहाड़ देखो उनमें हिमालय देखो नदियां देखो उसमें गंगा देखो उसमें अनेकों तीर्थ देखो सप्त तीर्थ देखो हमारी नर्मदा मैया देखो सब देखो लेकिन इनकी महिमा काहे में है इनकी महिमा यह है कि महादेव की जटाओं से ऐसी गहराई में देखते जाओ देखते जाओ कि अंततः तुमको वही पर ब्रह्म परमात्मा उससे संबद्ध दिखाई पड़े हनुमान जी को अगर इस प्रकार से तुमने नहीं देखा तो हनुमान जी को जाना ही नहीं फिर हनुमान जी खुद अपने आप को अलग नहीं जानते एक अज्ञानी आदमी वो अवश्य होता है जो अपनी महिमा का गुणगान गाता है भगवान हम आए हैं आपकी मंदिर में एक बार अभी वो गणेश चतुर्थी के पर्व में आजकल पता नहीं कौन कौन से टेप लगाते हैं कौन गाना बनाते हैं भजन बनाते हैं भजन के नाम से चल रहा था गणेश जी हम आए हैं आपके मंदिर मतलब क्या अभिमान दिखा रहे हैं हनुमान जी को गणेश जी को छाती फाड़ के हनुमान गणेश जी क्या याद करोगे आज हम भी आ गए आज आपके जैसा देवता नहीं और हमारे जैसा भगत नहीं जैसे शिव प्रखा ने बोला था ना भगवान से भगवान हमारी जैसी नारी नहीं आपकी जैसा पुरुष नहीं है we are made for each other एक दूसरे के लिए बने ही जो है हवा में वो भगत गणेश जी को बोला हमारा जैसा कौन भगत आज तो आपकी भी लॉटरी खुल गई भगवान हम आ गए फिल्मी अंदाज में कोई विलेन विलेन आता है ना ऐसे अनेक लोगों की सोच होती है हम आगे बढ़ राजा के हनुमान जी के जीवन में कभी नहीं होती रावण ने भी जब पूछा कि हे हनुमान कौन है तुम्हारे पीछे कौन तुमको बल दे रहा है वहां पर भी वो बोलते हैं कि हे रावण जिसकी कृपा प्रसाद से लेश मात्र कृपा से तीनों लोग तुमने जीत लिए हैं हम उस राम के दूत हैं हमारी और कोई पहचान सदैव हमारे हृदय में वही रहते हैं इसीलिए अगर उनसे भी कोई पूछो राम जी ने भी पूछा कि हनुमान कैसे कर दिया है तुमने इतना गजब का काम वन मैन आर्मी लंका में जाकर तुमने ऐसे सबके नाकों जब चबवा दिए सबकी नानी याद आ गई वहां महिलाओं के गर्भ गिरने लगे और जो सब आतंकित होने लगे और उसमें तो सब लोग का हाल क्या बेहाल हो गया होगा जब हनुमान जी बोलते हैं यार बड़ी लंबी फौज है इसमें हम तो सबसे छोटे बोले यार सबसे छोटा नहीं है काम करा है ऐसा आतंक कर दिया बाकी बड़े होंगे तो क्या करेंगे इतना गजब का काम करा था पूरे लंका को हिला दिया था उनके बड़े बड़े योद्धाओं को खत्म कर दिया उनके मन के अंदर मनोवैज्ञानिक रूप से तो हार उत्पन्न करवा दी थी उनके भाई को जो है ले आए थे हम्म। असली विश्वसनीय पात्र को राम जी के पास जो है उनका हृदय जीत के ले आए थे सीता जी को जो है आश्वासन मिल गया था सब कुछ हो गया था अद्भुत असंभव का काम करा जब राम जी की तारीफ करते हैं बोलते हैं जी कैसे करा उनके चरणों में गिरते हुए बोलते प्रभु क्यों आप मजाक करते हो हमसे हम तो कुछ नहीं हम तो वानर हैं एक डाल से दूसरे डाल पे कूदते रहे हो गया हमने थोड़े किसी को मारा जिस डाल के ऊपर हम बैठे उसके नीचे चार खड़े थे मर गए यार डाल से गिरी डाल से उनका सर फूट गया हमने थोड़ी मारा हम अपने बचाव के लिए हाथ घुमाया दस खड़े थे गिर गए और हम क्या करें हमारे हाथ में इतना दम है बाहर गए हमने थोड़ी जलाने लंका को पूछ बचा रहे थे महाराज पूछ जहां जहां गए बचाने के लिए जल गए उनके पर्दे वर्दे लगे थे घर लगा हुआ था कपड़े सूख रहे थे सब धंधना के जनता गया हमने कुछ नहीं करा महाराज ये सब आप ही ने करा हम सवेरे भोर में जा रहे थे ब्रह्म मुहूर्त में निकल रहे थे और वहां पे विभीषण का घर था कि आप ही ने जुगाड़ करा था ना प्रभु हम्म? उसी रास्ते पे हमको ले गए थे और उसी दिन जो है सवेरे सवेरे विभीषण जगे और राम नाम लेने लगे और हमारा आना और उनका राम नाम लेने का संयोग आप ही ने बैठाया ना भगवान हम्म? सब आप की महिमा प्रभु फोकट में हमारा गुणगान गाते हो प्रेरणा आपकी बल आपका जीवन आपका ये हाथ आपके ये बुद्धि आपकी ये हृदय आपका ये आशीर्वाद आपका हम क्या करते हैं भगवान हम तो बस सदैव आपका भजन करें उत्साह से जीवन में आप जो भी हमको प्रदान करें सौभाग्य से उसको ग्रहण करते हुए आपका गुणगान प्रसाद लेते हुए अपना जीवन व्यतीत करते जाएगा तो हनुमान जी की महिमा में हम लोगों को प्रारंभ में क्या सूत्र दिया गया कि आगे हनुमान जी के गुणगान जो गाने वाले हैं उसको व्यक्ति के गुण मात्र समझ के मत खत्म कर देना बड़ी कमी रह जाएगी वो इतने अच्छे गुण हैं हनुमान जी के कि अगर तुम उन्हीं गुणों के पीछे जाओगे तो तुमको अपने प्रभु राम मिलेंगे यही तो राम को मिलने का तरीका है सत्संग में संतों के पास उनके हर कार्य के पीछे राम मिला करते हैं राम कोई व्यक्ति की तरीके से खड़े नहीं मिला करते हैं इसीलिए हनुमान जी के गुणगान को इस अंदाज से जाएंगे अगर ऐसा कोई संत ही तो बता सकता है ना जिन्होंने रामायण लिख के दी है वो ही ऐसा बता सकते हैं कि ये गुणगान गाओ भैया कोई भी मत गाना संतों के लिखे भजन गाओ एक हमारे वहां सुतार आते थे धार से बड़ा अच्छा काम करता है बड़ा प्रेम से बड़े भगत आदमी है एक हनुमान जी का मंदिर भी है पता नहीं आगे धार के कहीं वहां जाके सुंदरकांड का पाठ और ये करते और एक दिन बैठे बैठा है उन्होंने बोला महाराज जी आपको हम भजन लिखा है सुनाते हैं और बहुत बढ़िया बात है बड़े बढ़िया सुनाता रहता था भगवान ऐसे अच्छे अच्छे लोग भेजते रहते हमारे पास जैसे आप सब लोग भी मिल गए जीवन में है? तो वो हमको बताते हैं उन्होंने भजन चालू करा और बाद में बोलते हैं कहत कबीरा बोला शर्मा जी ये कबीरा कहां से आ गई तो आपने भजन लिखा है, है? हाँ? उसने महाराज जी ऐसे ही होता है आप लिख दो बाद में कबीर और वो कबीरा जोड़ दो हो, हो जाता हमने बोला यार ऐसा होता है क्या अब आपके सब भजन के ऊपर हमको तो नमक मिर्ची लगा के सुनना पड़ेगा हम्म। संतों की वाणी है अमृत वाणी ऐसे सांसारी एक अज्ञानी आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता है कि इतने प्रसन्न गंभीर रचना होती है सागर की तरह होती है शांत होती है दिव्य होती है जितना गहराई में जाओ उसमें अमृत मिलता है बल्कि यहां पर राम जी मिला करते हैं हनुमान चालीसा की यही महिमा है चारों तरफ दुनिया इसका पाठ करती है गुणगान गाती है हम भी सदैव जहां जाते हैं सबको प्रेरणा देते हैं हम मूल रूप से हमारे गुरुदेव की आज्ञा से गीता का ज्ञान दुनिया में देते हैं यहां पर भी गीता का ज्ञान चलता है वेदांत आश्रम में जहां हम जाते हैं वहां गीता ज्ञान यज्ञ करते हैं ये हमारे पूज्य गुरुदेव की आज्ञा थी उनका आशीर्वाद था उनकी प्रेरणा थी लेकिन एक चीज जो हमको दिखाई पड़ी कि अगर कोई व्यक्ति गीता का ज्ञान जीवन में आत्मसात करके जीने वाला है वो हमको हनुमान जी दिखाई पड़ेगा ऐसे हनुमान जी की महिमा है कि जो गीता में लिखा है अगर कोई जी के दिखा रहा है उसी को हनुमान जी समझो इसीलिए जीते जागते दृष्टांत है उनके अंदर गीता दिखेगी उनमें आपको राम दिखेंगे उनमें पर ब्रह्म परमात्मा दिखेंगे उनमें समस्त प्रकार की कृपा दिखेगी उसमें एक संत दिखेंगे और सुंदर कांड सुंदर काय के लिए भैया हम्म? क्योंकि हनुमान जी की उसके अंदर भक्ति महिमा और लीला है एक ही नहीं दो दो महान भक्तों विभीषण जी की भी लीला उसमें आती है सबसे विलक्षण नाम है सुंदर का बाकी अध्यायों के तो नाम या तो स्थान के ऊपर है या अवस्था के ऊपर है लेकिन सुंदर कांड में ही कोई सुंदर पुरी है हाँ? कोई सुंदर नगर भी नहीं है सुंदर नगर हमारे हिमाचल में एक स्थान जरूर है लेकिन वो हनुमान जी से नहीं जुड़ा हुआ है क्योंकि इसकी सुंदरता हनुमान जी विभीषण ऐसे महान भक्ति के आचार्य लोग ऐसे संत लोगों का इसके अंदर गुणगान गाया हुआ तो ऐसे हनुमान जी का यहां पे गुणगान गाते हुए प्रारंभ इतने सुंदर प्रेरणा से कर रहे हैं बोलते हैं भैया हम आगे बताने जा रहे हैं लेकिन भूमिका तुमको सूत्र पहले दिए देते हैं कि आगे जो भी सुनना पढ़ना इतना मननीय है भजनीय है चिंतनीय है उनके गुण कि अगर तुमने गहराई में नहीं झांकने की कोशिश करी तो पीछे राम जी तुमको मिलना शायद दुश्वार हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा तो यहां पर बोलते हैं कि हम भर न हो रघुवर विमल जसू ऐसे हनुमान जी का गुण गाने वाले हैं जिस हनुमान जी के गुणगान से आपको राम जी मिलेंगे ये हमारा आश्वासन है और अगर आप राम जी के गुणगान गाओगे तो महाराज जी क्या फल प्राप्त होगा आजकल आदमी बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाए है उससे कुछ भी बोलो करने को बोले महाराज जी क्यों करें भैया योगासन कर लिया करो सवेरे हमारे रामदेव बाबा जी भी बोलते भाई सवेरे उठ के प्राणायाम करा करो उन्होंने तो सिस्टम ही बना लिया वो बोला यार उससे पहले कि कोई पूछे क्यों करें बाबा जी उन्होंने अनेकों मरीजों को बता दिया भैया उठ के खड़े हो जाना बता दे सब और लोग उनके जो है वह सभाओं में खड़े होकर प्रमाण देते हैं अगर हमने योगासन और प्राणायाम करा तो देखो हमारी 10 साल की जो है यहाँ डायबिटीज चली गई ब्लड प्रेशर चला गया नींद नहीं आती थी ये नहीं होता प्रमाण मिलता है और प्रमाण मिल जाए तो लोगों को प्रेरणा मिल जाती है हो हाँ गया ये तो सही फायदा हो रहा है लोगों आजकल तो ये हाल हो गए भैया किसी से बोलो कि मुस्कुराया करो महाराज जी क्यों मुस्कुराया करें क्या फायदे होते मुस्कुराने के तो आपको पता है आजकल लाफिंग क्लब चला करते हैं अनेकों स्थानों में हम्म? ऐसे संगठन पूरे देश में चल रहे हैं पता नहीं किस बढ़िया व्यक्ति ने अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति रहा होगा जिसने चालू करे चारों तरफ बोलते सवेरे ऐसा करा जाए एक पैकेज बना लेते हैं जिसमें थोड़ा व्यायाम भी कर लेंगे योगासन भी कर लेंगे प्राणायाम भी कर लेंगे और हंसना जरूर है सवेरे सवेरे दिन भर तो रोना है रोते रहना सवेरे हंस जो बढ़िया हंसने के जब उन्होंने प्रारंभ करा बोला क्या फायदा तो उनके भी जो टीचर होते हैं बताते फायदे हंसने से तुम्हारी बीमारियां खत्म होती हैं तनाव खत्म होते हैं और तुम्हारे अंदर ऐसे हार्मोन उत्पन्न होते हैं तुम्हारी शक्ल भी सुंदर लगती है प्रभु हंसते हुए फोटो भी खिंचवानी हो तो फटे फटे फटे चला अपनी शिकम तो दूर कर ले चेहरे की है? नहीं तो पूछेगा किस बीमारी के साथ फोटो खिंचवा रहे हम्म? तुम भी सुंदर लगते हो मन के अंदर प्रसन्नता हो जाती है आनंद हो जाता है शरीर का हाव भाव बदल जाता है अनेकों डॉक्टर लोग तो बोलते हैं doctor is the best medicine अगर दिल में एक बार दिल खोल के तुम हंसे नहीं ना तो निश्चित रूप से रोगी हो गया है और अगर एक बार हंस लेते हो दिन में तो शरीर के अंदर परिवर्तन हो जाता है प्रमाण है आजकल विज्ञान का प्रमाण है कि शरीर में ऐसे ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं तनाव से भी निकलते हैं मायूस रहोगे तो रोग होता है और प्रसन्न होते हो तो स्वस्थता होती है उसके भी प्रमाण देने पड़ते हैं यहां पे हनुमान चालीसा जो है हमारे गोस्वामी जी ने जब बोला पढ़ लिया करो तो बोला महाराज जी क्यों पढ़े जो सत बार पाठ कर कोई झूठ ही बंदी महासुख जो ना फल दे दिया उन्होंने हर चीज का फल बता देते प्रैक्टिकल होते यहां पर भी पहले सोठे में ही जहां पर उन्होंने बोला वर्ण हूं रघुवर विमल जसू बोला काहे के लिए इसीलिए भैया हमारे जैसे जो वक्ता लोग होते हैं ना व्यासपीठ पे बैठ के लोग सुनाते हैं कोई भी बात बोलनी हो तो पहले समझ लेते हैं किताबें पढ़ते हैं रिसर्च करते हैं क्या क्या फायदे हुए भैया लोगों को बता दो लोगों को हो सकता है कोई पीड़ा हो तो यहां भी बोलते हैं एक बात हम बताएं अगर तुम हनुमान जी का भजन करोगे ऐसे भजन करोगे कि राम जी तक पहुंच जाओ उनका आशीर्वाद पीछे दिखने लगे ऐसे अगर भजन करोगे केवल दिन में निपटाने वाला भजन नहीं एक हमारे वहां आते भगत आदमी सवेरे सवेरे नियम ले रखा है पिछले 20 साल से आश्रम में आते और आपके कई बार घर में जो है जल्दीबाजी में उठे नहीं तो यहां स्नान कर लेते हैं आके और जल स्नान करते हैं तो आपको हनुमान चालीसा सुनाई पड़ती बात को और जितना ठंडा पानी हो उतनी स्पीड से सुनाई पड़ेगी हो गया क्या तुम निपटाना हो तो किसी को भी निपटा सकते हो फिर ये समझ लेना भगवान जब तुमको निपटाएंगे तो रोना मत अरे भगवान हमने आपका भजन भी करा था और तीर्थ भी करके आए थे पूजा भी करी बोलते हाँ यार सबके सामने पोल खोले कैसे करी थी हमारा भजन कर रहे थे मांग रहे थे जो है वह किसी संसारी चीज को तो हमारे तुम हृदय में कभी हमको भी तो बैठा हुआ है कभी हमारे पास आके हमको भी मांगा करो हमारी भक्ति भी मांगा करो तो पता लगे तो हमसे प्यार है हमसे भक्ति है हम्म? तो तुम वही सब सारी चीज मानते हो महाराज जी बीमार हो गया ये प्रमोशन नहीं हो रहा है ये बॉस बड़ा गड़बड़ कर रहा है ये गड़बड़ हो गया वो सास ऐसी कर रही हो और हमारी पत्नी ऐसी कर रही हो सब निश्चिंत हो गए कुछ नहीं मांगना केवल भगवान की भक्ति मांगो भगवान का आशीर्वाद मांगो सबसे बड़ी कृपा है जिसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति हो जाए आशीर्वाद हो जाए उसने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर तुम हमारे प्रार्थना को भजन को निपटाओगे नहीं तो हम भी तुमको निपटाएंगे नहीं तुम बताए देते बेटा जब हम निपटाएंगे तो रोगे तुम है इसीलिए हमको एक चीज तो बहुत ही सीरियसली लो खूब प्यास धो होके निश्चिंत होके सवेरे के समय ब्रह्म मुहूर्त में और सवेरे तब है जब उठो जाए अब ये आजकल के समय वो सवेरे की परिभाषा भी खत्म हो गई एक आदमी को बोला सवेरे उठो बोलो महाराज जी नाइट शिफ्ट से तो आए अब इस समय हम उठे कि सोए तो बोलते हैं इसीलिए आजकल के समय देखो पहले के समय क्या होता था ये लाइट वाइट नहीं थी जब से लाइट आई ना बहुत बड़ी क्रांति पूरी दुनिया में आई समय बदल गया पहले पूरा जीवन सूर्य के उदय और अस्त से चलता था जहां शाम हुई गांव में लाइट वाइट खत्म हुई सूर्य अस्त हुआ सब लोगों का भोजन पानी निपटा और वहीं पे जो है होटले में बैठ के भजन गाया मस्ती से हाँ, मिले मिलाए हालचाल पूछा और सोने गए सवेरे उठ जाओगे जल्दी जल्दी सोगे तो सवेरे जल्दी उठ जाओगे उठोगे तो वहां स्नान ध्यान वगैरह कर करा के मूल रूप से अच्छी निद्रा लेने के बाद सवेरा होता है आपका उस समय मन स्वस्थ रहता है शरीर स्वस्थ रहता है गीता के छठे अध्याय में भगवान कृष्ण ने बताया युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवती दुखा अर्जुन तुमको अपने निद्रा और जागृति खाना और व्रत इन सब में संतुलन रखना चाहिए निद्रा थोड़ी आवश्यक है अच्छी निद्रा आदमी के शरीर और मन के लिए परम आवश्यक है इसका मतलब यह नहीं है यार सत्संग में भी सोना तो हमारा <laughs> जी आदि ने बोला निद्रा आवश्यक है चलो यही रख अनेकों लोग हमने देखा है प्रवचन में आके दीवार के पास बैठते हैं यहाँ पे तो इस हॉल में ये गुंजाइश ही नहीं है <laughs> नहीं तो आके बाकायदा टेका वेका लगा के बैठते हैं और जहाँ प्रवचन चालू करा आंख बंद हो गया बोला समाधि में गया <laughs> और उनकी समाधि तो बड़ी अद्भुत सिद्धि होती है जब प्रवचन खत्म हुआ तो जग भी जाते हैं तो ये निद्रा आवश्यक है लेकिन अति निद्रा भी मुसीबत है कम निद्रा भी मुसीबत है बहुत ज्यादा जगह रहोगे तो फिर ध्यान कहां होगा इसीलिए अच्छी निद्रा ले लो सवेरे उठो स्नान ध्यान करो निद्रा अद्भुत सी चीज होती है कितने भी दिन भर थको एक थोड़ी देर की झपकी भी ले लेते हो तो मन देखो चिंता से रहित हो जाता है फ्रेश हो जाता है बहुत आवश्यक है मनोवैज्ञानिक लोग जानते हैं हमारे उपनिषद में बताते हैं मांडू के उपनिषद एक उपनिषद है अथर्ववेद का उसमें बोलते हैं कि आदमी की तीन अवस्थाएं होती हैं जागृत स्वप्न और गहरी निद्रा तीनों के आशीर्वाद बताए हुए कितना बड़ा आशीर्वाद होता है बोलते हैं इससे तुम अनेकों शिक्षा भी लेते हो तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर सकते तो वो निद्रा थोड़ी लेके जब बढ़िया फ्रेश हो जाओ ज्यादा निद्रा ले लोगे तो फिर आलस आएगा खुद देखो जीवन कितनी निद्रा आवश्यक है उस समय पहली चीज जो करना चाहिए वो भगवान का भजन करना चाहिए अपने गुरुदेव का स्मरण करिए जिनकी कृपा से ज्ञान मिला आपको अपने इष्ट देवता का स्मरण करिए जिनके वजह से मनुष्य का जीवन मिला है आपको और उन्होंने जो भी मंत्रणा दी है जो आपको प्रेरणा दी है वो भजन करो और हनुमान चालीसा तो संतों का अमृत है अर्थ के साथ भाव के साथ एक बार पाठ करना चाहिए और उसमें प्रारंभ में बताते हैं कि हनुमान जी का गुणगान गाने से जोदायक फल चाहे इससे पहले तुम पूछो तो हम पहले बता देते हैं फायदा क्या है है ना हाउ तो जो दायक फलचारी भैया एक नहीं चार चार फल मिलेंगे तुमको अब आगे बोलो हाँ? अब तो करना है ना बोले महाराज जी वो तो है कौन से चार फल बोलना हो भैया अभी बता चार फल होते हैं जो हर मनुष्य जीवन में आंख उठा के देखो देश विदेश में देखो इतिहास में देखो या भविष्य में आगे भी होना वाला होगा केवल चार चीजें मनुष्य प्राप्त करता है और ये हमारे ऋषि लोग हैं जिन्होंने ये मनुष्य के चारों संभावित जो गोल होते हैं लक्ष्य होते हैं जिनको साध्य बोलते हैं वो साध्य चार होते और ये महिमा है हनुमान चालीसा की हम आपको अभी से आश्वासन दे देते हैं आपको ये चारों पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए इनको चार पुरुषार्थ भी बोलते हैं चार पुरुषार्थ पुरुष ही अर्थते जिन चीजों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी बगैर मेहनत के हम नहीं देंगे मेहनत करनी पड़ेगी प्रसाद तुम भजन करोगे पाठ भी करोगे ध्यान भी करोगे ये भी अच्छा है लेकिन और भी कुछ मेहनत करनी पड़ती वो भी बताएंगे आगे चलते क्या क्या मेहनत करनी पड़ती लेकिन ये जो है हनुमान चालीसा का जो ज्ञान है ये आपके पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा ये संत की वाणी है उनके जीवन का संदेश है जो दायक फल साथ चारों पुरुषार्थ ये चार पुरुषार्थ कौन से होते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष केवल ये चार चीजें हम लोग जीवन में प्राप्त करा करते हैं सदैव किसी पूछो क्या कर रहे हो अरे महाराज जी कमाई कर रहे हैं पैसा कमा रहे हैं हाँ? और जिसने कमा लिया बोले अब तुम क्या कर रहे हो यार बोलते मनोकामना की पूर्ति कर रहे हैं अनेकों इच्छाएं थी अनेकों वासनाएं थी अनेकों सपने थे वो सपना पूरा कर रहे हैं कामनाएं पूरी कर रहे कुछ लोग हैं कामनाओं के बारे में भी ठीक है कृतार्थ हो गए हैं बहुत ही धन्य हो गए हैं या विवेकी हो गए हैं उनको लगा मात्र कामना पूर्ति से काम नहीं बनता है तो धर्माचरण करते हैं सेवा करते हैं गुणगान गाते हैं भजन गाते हैं सत्संग करते हैं धर्म का काम करते हैं बहुत सारे लोग हैं बड़े सत्पुरुष लोग हैं जिनके वजह से दुनिया चलती है जिनके वजह से परिवार चलते हैं जिनके वजह से पूरी देश चल रहा है कोई धर्मनिष्ठ व्यक्ति होते हैं और कुछ लोग धर्म का भी कार्य बहुत अच्छी तरह से कर चुके हैं और एक चीज अब और समझते हैं कि हमको जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति मिल जाए भगवान ऐसा भी कुछ ज्ञान हो जाए मोक्ष की प्राप्ति कर ये चार लक्ष्यों के अलावा जीवन में और कोई लक्ष्य नहीं होते हमारी कामनाओं के नाम अलग रूप अलग हो सकते हैं लेकिन मूल रूप से है तो कामना धन कमाने के तरीके सैकड़ों हो सकते हैं लेकिन है तो अर्थ अर्थ बोलते हैं धन की प्राप्ति के तरीके को तो ये चार प्रकार के लक्ष्य जो होते हैं इसको अपने तरफ निर्धारण रखो और चारों का विवेक प्राप्त करो और हमको यहां भी बताते हैं संत लोग कि देखो जब हम चारों की चर्चा भी करते हैं ना धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों यार सीख लेना कभी कौन बनेगा करोड़पति पहुंच जाओ तो पूछेंगे वो हाँ, आज तो ऐसे प्रश्न पूछा करते हैं वहां पर चार वेद कौन से हैं चार पुरुषार्थ कौन से हैं दशरथ जी के चार पुत्र कौन से हैं पुराणों के बड़े प्रसंग आते हैं आजकल यही पे तो मजाक की बात थी लेकिन ये चार चीजें हर व्यक्ति को जीवन में ध्यान योग और पहली चीज ध्यान देने योग्य है धर्म को ही बताया धर्म सब चीजों का स्तंभ होता है धर्म की चर्चा भी पहले इस पूरी प्रसंग में करी जाती है वो नीव तुल्य होता है और अगर आपको धर्म का रहस्य सीखना है तो ऐसे हनुमान जी का गुणगान गाने से तो पता लगेगा भैया रावण की चर्चा करने से थोड़ी धर्म पता लगेगा रावण चालीसा भी लिखी गई है लंका के लोगों ने बोला है तुम लोग हमारे रावण के पीछे मारने के हर जलाते रहते हो दशहरे में हमारा रावण जलाते हो हमारे राजा को जलाते हो हम लोग रावण चालीसा भी लिखेंगे तो वहां की किसी ने रावण चालीसा रावण चालीसा में क्या लिखोगे ऐसे को मारा ऐसे में सबको नाक काटी और ऐसे लूटा और ऐसे पाटा ओसामा बिन लादेन के भी शिष्य लोग चालीसा लिखेंगे और ऐसे बिल्डिंग उड़ाई और ऐसे हवाई जहाज को बिल्डिंग से लड़ाया और ऐसे बम उड़ाया उनके लिए वही महिमा लेकिन ऐसी महिमा गाने से धर्म नहीं अधर्म होता है हनुमान जी के गुणगान गाने से धर्म की नींद बनती है पहला पुरुषार्थी धर्म किसको धर्म बोलते हैं हम लोग दो मिनट उसके ऊपर भी चिंतन कर ले वैसे तो बहुत बड़ा विषय है ये देखिए भगवान अवतार लेते हैं ना केवल धर्म की स्थापना के लिए लेते हैं और किसी चीज के लिए नहीं लेते ब्रह्म ज्ञान देने के लिए भी नहीं लेते गीता के चौथे अध्याय में अर्जुन ने पूछा भगवान आप अवतार क्यों लेते हैं सब लोग आप जानते होंगे वो प्रसिद्ध श्लोक यदा यदा हि से ग्लानिर्भवति भारत अधर्म से तदात्मान सृजाम्य परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवान युगे युगे हर युग में जब जब धर्म में ग्लानी होती कमी होती जाती सीधे हम अवतार नहीं लेते हैं वो भी रहस्य हमको शास्त्र बताते हैं उससे पहले तो उनके संत लोग भगत लोग आके काम कर लेते हैं और अगर वो भी नहीं कर पाते हैं और इतनी ज्यादा धर्म की ग्लानी होने लगती है तो निश्चित रूप से समझो धर्म का संरक्षक खुद व्यक्तिगत रूप से आके धर्म की स्थापना करेगा हम बहुत आतुर नहीं होते हैं जल्दीबाजी नहीं करते हैं तुमको भी जो है वह अधर्म के मध्य में रहने का मौका भी मिलेगा हम जल्दी जल्दी नहीं आएंगे तुमको प्रेरणा देंगे आत्मबल रखो श्रद्धा रखो विश्वास रखो और अधर्म को दूर करके अपने जीवन में धर्म की स्थापना करो धर्म के प्रति निष्ठा तभी जाके प्रबल होती है जब हम धर्म में उतनी तीव्र आस्था रखते हैं जितनी तीव्र आस्था अधर्मी लोग अधर्म में रखते अधर्मी लोग कई बार बहुत ज्यादा निष्ठावान होते हैं उनको अपने कार्य में ज्यादा जो है वह प्रेरणा श्रद्धा होती है इसीलिए जुनून होता है जोश होता है मन के अंदर ऊर्जा होती है मेहनत करते हैं जब धर्म भी उतना ज्यादा ओजस्वी होगा तीव्र होगा तब धर्म की विजय होती है गीता की कहानी जो है महाभारत की कहानी थी कौरव पांडवों का युद्ध था कौरव जो थे अधर्म के प्रतीक थे और धर्म के प्रतीक पांडव थे सदैव ये इतिहास है कि सदैव धर्म के जो निमित्त होते हैं वो कम होते हैं और अधर्म ज्यादा होते और अगर आपको धर्म की विजय करनी हो तो धर्म को एक हमारा योद्धा बीस के बराबर होना चाहिए तभी तो जब बराबर करोगे इतना ज्यादा निष्ठावान होना चाहिए दृढ़ होना चाहिए कोई भी यहां पे धर्म का कार्य हो आप हिलो नहीं आपकी धर्म से आस्था नहीं हिलाए कोई हिला नहीं पाए तब आपके अंदर धर्म की आस्था है तब विजयी हो जाओ तो धर्म जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है भगवान का अवतार ही इसीलिए होता है और अर्जुन की पूरी समस्या धर्म के विषय में थी पूरी गीता में भगवान नहीं बताते हैं अर्जुन धर्म के बारे में निर्णय करना हो तो कैसे करते हैं वो हम तुमको बता देते हैं हाँ? तो ये जो धर्म की यहां में बात है सबसे पहले हमको वो किसकी प्रेरणा मिलती है देखिए मूल रूप से धर्म का रहस्य ऐसा होता है कि क्या है धर्म ये जानना हर व्यक्ति को बहुत आवश्यक होता है धर्म होता है किसी परिस्थिति में सही क्या है उचित क्या है धर्म धर्म को कठोपनिषद में श्रेय और प्रेय का नाम दिया है तो श्रेय क्या है धर्म क्या है प्रेय क्या है अधर्म क्या है तो हां हम लोगों को बताते हैं कि देखो श्रेय और प्रेय धर्म धर्म की एक सामान्य सरल सी परिभाषा यह है कि जो चीज आप दूसरे से अपने लिए उम्मीद करो वो ही कार्य आप दूसरे के लिए कर लो ये धर्म की सामान्य परिभाषा अगर आप दूसरे से उम्मीद करते हो कि आपके प्रति उसके उचित भावना हो आदर हो श्रद्धा हो विश्वास हो तो हमको वैसा हम दूसरों के साथ करने की भावना रखेंगे तो वो धर्म का स्वरूप होगा सरल सी परिभाषा है प्रारंभिक परिभाषा है आगे उसमें और भी भिन्न भिन्न रूप होते हैं हम लोग को धर्म का निर्णय करने के लिए ही कई बार विद्वानों के पास जाते हैं पंडितों के पास जाते हैं मुहूर्त दिखवाते हैं कथा पढ़ते हैं कि हमारे राम जी इस परिस्थिति में होते तो क्या करते वो धर्म होगा हमारे आदर्श हमारे गुरुदेव अगर इस परिस्थिति में होते तो क्या करते वो धर्म होगा और कई बार हम लोग अपनी कथाओं से भजनों से प्रसंगों से शास्त्रों से नहीं समझ पाते हैं तो लोग तो कई बार एक सामान्य सा तरीका भी रहते बोलते एक होता है लॉटरी योग तो पता लॉटरी हो हम्म? जाना है नहीं जाना है जाना है नहीं जाना है क्या करें क्या करें उचित क्या है नहीं जाना उचित है कि जाना उचित घर में झगड़ा हो रहा है बोलना उचित है कि नहीं बोलना उचित है अब पहले तो रामायण की देख ली बोला ऐसा झगड़ा है कभी वही ही नहीं किसी के साथ हमारे साथ ही हो रहा है पहली बार झगड़ा हो रहा है ऐसी रगड़े वाली परिस्थिति मिली तो बोलते देखो तुमको जो है निर्णय करने के लिए बहुत सारे तरीके अगर तुमने जीवन में किसी संत का साथ नहीं दिया है ऐसे समय संतों का साथ बहुत ही काम आता है जब आप धर्म संकट में हो ना अगर आपको किसी संत का सहारा है आशीर्वाद है उनका हाथ हाथ के सर पे है तो सीधे जाके बोलो महाराज जी बड़ा कष्ट है क्या करवाया जाए इस समय वो बता देते हैं मुसीबत खत्म हो जाती है रास्ता मिल जाता है लेकिन अगर नहीं है तो आप क्या करोगे एक पर्ची में राम नाम लिखो हाँ या ना बोले श्री राम पर लिख के हाँ पर्ची मतलब। दो चार पर्ची बना लो राम राम राम राम राम राम राम राम महाराज जी जाए नहीं जाए जाए नहीं जाए बोले नहीं बोले बोले अच्छा अच्छा, अच्छा। आंख बंद करके उठाओ और हाँ हमारा भगवान ने आज्ञा दे दी है जाओ भाई चले जाओ अब देखो ये भगवान का भरोसे से निर्णय हो जाता है अनेकों तरीके हम ये प्रेरणा नहीं दे रहे हम प्रेरणा दे रहे हनुमान जी का भजन करना किसी संतों का साथ लेना इतने तो मत बोलना वो स्वामी जी वेदांत आश्रम के बोल रहे थे लॉटरी योग लगाओ हाँ। हमारी दूसरी विद्या दिया यहाँ दूसरे तरीके से हमारे वहां लॉटरी लगती नहीं मगर हम ये बता रहे दुनिया करती है है ना हजारों लोग करते हैं हमारे राम रामायण के प्रारंभ में भी वो राम प्रश्न करके आता है ना हाँ, सब जानते हो लोग हमने भी प्रारंभ में करा हुआ हाई स्कूल में गड़बड़ हो गया था पेपर पास होंगे फिर होंगे पास होंगे <laughs> और भगवान ने सर्टिफिकेट दे दिया पास हो जाओ तो हो गए थे सबसे बड़ा विश्वास है हमको उसके प्रति तो ऐसे जब हमको सही गलत का निर्णय का विवेक नहीं होता और आवश्यक है करना है हम्म, कोई बच्ची के लिए शादी का जो है वो आया है कोई रिश्ता तो वो करे ना करे नहीं करे अब सभी कोई अच्छा बोल रहा है कोई बुरा बोल रहा है दोनों पक्ष बराबर है करो तो करो क्या सही का निर्णय तो करना है अगर गलत निर्णय हो गया है तो आपकी बिटिया पूरे जीवन भर की मुसीबत हो जाए इसीलिए धर्म अर्थात जो उचित है धर्म सदैव उचित का ही पर्याय है दूसरा शब्द है इसीलिए सदैव जीवन में उचित अनुचित का ज्ञान रखो उचित अनुचित का ज्ञान प्रिय अप्रिय का ज्ञान नहीं होता हमको अच्छा लगता है इसीलिए उचित होता है समझ समझना बहुत बड़ा भ्रम होगा जितने भी डायबिटीज वाले सबको मिठाई अच्छी लगती पता है हाँ। हमको भी हम भी शुगर वाले हैं और जब जब त्योहार होते हैं भक्त होते हैं हम लोग की संस्कृति में तो प्रेम और आदर केवल मिठाई अर्पण करने से होता है ना लड्डू लाओ लड्डू पेड़ गया जी गरम गरम जलेबी उतर रही थी ले आया अब दाएं बाएं देखना पड़ता है कोई भगत लोग शिष्य लोग तो नहीं देख रहे अच्छी लगती क्या करें यार अब जो भी है डॉक्टर हमारे जब तक न जाए खा लेते हैं लेकिन हमको पता है जो अच्छा लगता है वो उचित हो ये कभी आवश्यक नहीं होता है उचित की विवेक उचित का विवेक प्राप्त करना ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है किसको उचित बोलते हैं तो धर्म का ज्ञान इसीलिए हनुमान जी जैसे को कोई जीवन में अगर रखता है तो आपको प्रेरणा मिल जाती है हनुमान जी के जीवन में हर परिस्थितियां आई है अब ध्यान दो उनको अनुकूलता आती है प्रतिकूलता आती है कैसे आपको किस परिस्थिति का सामना करना होता है ये सब हनुमान जी ने लोग इसीलिए सदैव उसका पाठ करो धर्म का आपको ज्ञान हो जाए धर्म अर्थ काम और मोक्ष सब चीजें अर्थ की प्राप्ति आपको करनी है अर्थ की प्राप्ति करने के लिए भी हनुमान जी का भजन करना बहुत आवश्यक होता है आपको पता है अर्थ की प्राप्ति का रहस्य क्या होता है हम्म? धन की प्राप्ति करो आप घो प्राप्ति करो लक्ष्मी जी हैं लक्ष्मी जी की कृपा बरसे आपके ऊपर समस्त कार्य आपके जीवन में अच्छे संपन्न हो अनेकों लोगों के जीवन में मुसीबतें यही हैं कि हम हम्म, धन की प्राप्ति पर्याप्त रूप से नहीं हुई है उलझे हुए धन की प्राप्ति का तरीका हम लोग को यह ऐसे महान संतों का पाठ करने से पता लगता है जो भी हमारे जीवन में हर व्यक्ति का जोश को धर्म होता है उसको खूब प्रेम से करना एक चीज पकड़ लो जीवन में दिलो जान से प्रेम से करो ये हनुमान जी की शिक्षा है हम लोग की पूरी संस्कृति में ही है ये जहां हमारे देश में जब अनेकों प्रकार की वर्ण की व्यवस्था थी जाति की व्यवस्था थी आज तो बहुत सारे लोग उसके ऊपर कीचड़ उछालने वाले बहुत हैं अरे आज जाति से तो हमारा समाज गड़बड़ हुआ जाति के वजह से हो गया गड़बड़ जाति की वजह से मूर्ख लोग हैं आपको पता है ये जाति की व्यवस्था वर्ण की व्यवस्था मूल रूप से इसका शब्द है वर्ण व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद तो एक सामाजिक आशीर्वाद बताएं आपको वो ये होता है कि जिस समाज में वर्ण व्यवस्था शुद्ध रूप से उसका क्रियान्वयन होता है उस समाज में कभी भी बेरोजगारी की समस्या नहीं होती किसी ने कल्पना करी है आज अमेरिका के भी राष्ट्रपति हमारे देश में आते हैं बोलते हम आए हैं अपने देशवासियों के लिए नौकरी लगवाने के लिए यहाँ के भैया जरा ऑर्डर वाटर दे देना बड़ी बड़ी कंपनियां और हवाई जहाज भी खरीद लेना हमसे हमारी वहां कंपनियां चलेंगी नौकरी मिलेगी नौकरी मिलेगी ये हमारे मनुष्यों के लिए हास्यास्पद बात है हम लोग के वहां ये समस्या ही नहीं थी क्योंकि जब से आदमी पैदा हुआ उसके वर्ण के हिसाब से एक चीज तो सुनिश्चित हो गई इसको जीवन में क्या समाज में सेवा करनी किसी को व्यापार करना है तो बचपन से व्यापार की ट्रेनिंग मिल रही है किसी को जो है अगर लीडर बनना है तो बचपन से लीडर की ट्रेनिंग मिल रही और अगर उसकी प्रकृति नहीं होती है तो उसके लिए गुरुकुल में व्यवस्थाएं थी बोलते हम तुम्हारा वर्ण बता देंगे एक बच्चा अनाथ था अपने गुरुदेव के पास गया उन्होंने पूछा हाँ बेटा कौन से परिवार से आए हो तो महाराज जी हमारे माता जी ने बोला पिता का नाम नहीं पता वो बेचारे बड़ी मुसीबत में थी अनेकों लोगों ने शोषण करा था उसने सच्चाई से बोल दिया बेटा हमको तो तुम्हारे पिता का नाम नहीं पता है अब हम तुमको क्या क्या मुसीबतें बताएं अपने जीवन की उस बच्चे ने भी जाके अपने गुरुदेव से बोल दिया महाराज जी हमारी माता जी को पता ही नहीं सिपाही कौन है तो बाकी तो समझने लगे उनके गुरुदेव ने उसके सब वचन का विश्लेषण करा बोला बेटा कोई बात नहीं हम तुमको बताते हैं ये विज्ञान है हमारे पास किसी का वर्ण क्या होता है वो पहचान हो जाती है और जो ऐसे बोले इस प्रकार से बात करे उसका तो वर्ण ब्रह्म का वर्ण है तुमको पता ना हो लेकिन आज से हम बताते हैं कि तुम्हारा वर्ण इतनी सच्चाई से निर्भीकता से स्पष्टता से अपनी बात कोई कहने वाला कोई सात्विक व्यक्ति ही हो पूरा विज्ञान था किसी के अंदर की प्रकृति पहचानना कोई भी आदमी होना प्रकृति के हिसाब से जब काम करता है तो दक्ष होता है एक फौजी हमको मिले थे उन्होंने जो है वह इतने वर्षों तक काम करा फौज में और रिटायरमेंट के बाद पता क्या काम करा उन्होंने वो जाके पता नहीं बिहार विहार से कहीं से कोई डॉक्टर का सर्टिफिकेट ला क्लिनिक खोल के बैठे कर्नल साहब ये डॉक्टर क्या बोलते हैं क्या बताए स्वामी जी डॉक्टर बनने का सपना बचपन से था ये तो बोझा था सीधे चार थे और डॉक्टर बनने का सपना था जिस दिन मौका मिला मैंने क्लिनिक खोल के बैठे आज का जो आनंद आता है जहां दिल होता है ना वो कर्म मिल जाए तो आपको मन में सुकून भी होता है शांति भी होती है दक्षता होती है दिन रात काम करने के बाद थकावट नहीं होती है और तभी आदमी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है अपने वर्ण से सच्चे रहना जो भगवान ने आपको बनाया है देखो एक तो होता देखा देखी में कुछ संस्कार मिल जाते हैं और एक अगर आप देखना सीखो तो हर व्यक्ति के अंदर एक प्रेरणा होती है वास्तविक शिक्षा उससे उसका परिचय कराती है आपके घर में बाल बच्चे हो अगर वर्ण समझ सको और वर्ण के हिसाब से उस छोटे पौध को बढ़ने का मौका दो सात्विक वातावरण दो अच्छा संग दो शिक्षा के अंदर अनेकों चीजें आती हैं तब जाके वो व्यक्ति अपने प्रेम को पहचान के सच्चाई से उसमें आगे लग जाए जीवन में आपको कभी अर्थ की प्राप्ति की दिक्कत ही नहीं आएगी गारंटी से छोटा सा भी काम हो काम कभी छोटा नहीं होता है छोटे छोटे काम से अपार धन की प्राप्ति हो सकती है ये इसके लिए आपको विवेक और उत्साह प्रेम चाहिए एक छोटी सी चीज हो जाए काम बड़े प्रेम से करो कर्म की सफलता जो भी आपको यहां फल की प्राप्ति करनी हो केवल कर्म की दक्षता पर निर्भर होता हम लोग देखते हैं ना हमारे शहर में भी सरासे में भी शाम को थोड़ी देर लगाता है यार वो रेडी वेडी कौन सी चीजें लगाता है ऐसे बीतती है हमको याद है हमारी पढ़ाई जो है ना लखनऊ में हुई थी तो लखनऊ में एक वहाँ पे ओ का ऑफिस होता है वहाँ पास में ठेला लगा था शाम को सात बजे आता था बस और नौ बजे वो बंद कर देता था ठेला ऐसी लाइन लगती थी दही बड़े बनाता था कभी जाओ तो पूछ लेना लखनऊ में आज तो आता है लंबी गाड़ी में पीछे दो चार ट्रक होते हैं जिसमें माल होता रेड़ी नहीं छोड़ी उसने मल्टियां बन गई उनके बच्चे लोगों ने तो अनेकों कॉलोनियां बना ली लेकिन वो उनका पिताजी आज भी रेडी में होता हमने इसको नहीं छोड़े इससे तो हमारे जीवन का आधार रहा है लेकिन काम है साथ करता है उंगली चाटते रहते पता नहीं कैसे बनाता है सब लोग प्रयोग करके देख के गए हमने अनेकों को ले जाए खिलाया बुलाया तुम बड़े अपने आप को पाक शास्त्री कहते हो खाना बनाने वाला कहते हो जरा इसको हमको बताओ तो कैसे बनाता है आज तक हमको उसको बनाने वाला मिला नहीं दिल लगा प्रेम से बनाता है और वहां पे तो लोग तो वो मांगो दाम देंगे यार हमको एक प्लेट तो दे दो शादी के ऑर्डर वो तो ऑर्डर ऑर्डर नहीं खाओ कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियर है कोई वकील है कोई आर्किटेक्ट है कोई व्यापारी है कर्म में दक्षता कर्म में प्रेम ऐसा कई बार कर्म में प्रेम होता है क्या फल आएगा थोड़ी देर चिंता मत करो यार कर्म में ऐसे प्रेम लगा के कर्म करो पकड़ लो कोई एक फील्ड को किसी चीज में तुम्हारा दिल लग जाए उसके बाद जीवन भर तुमको अर्थ की प्राप्ति की चिंता करने की पड़ेगी ये हनुमान जी से सीखते हो हनुमान जी ने जो अपना एक कार्य का क्षेत्र लिया कभी विक्षेप नहीं कभी चिंता नहीं कभी ग्लानी नहीं दिलो जान लगा के कोई काम करता है तो ये कर्म में दक्षता कर्म में प्रेम स्वधर्म में निष्ठा जो हम हैं अपने आप को स्वीकार करो ईश्वर की आज्ञा समझो तुमको ऐसा बनाया है भगवान ने बनाया और भगवान ये काम कर रहे हैं या आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं हम आपके दूत हैं ये काम करने के द्वारा हम अपने कार्य को भी इसी दृष्टि से देखते हैं कि अगर हमको जो है यह अध्यात्म में वेदांत का ज्ञान देने की अगर प्रेरणा है ना हम इस प्रेरणा को हमारे व्यक्तिगत कोई संकल्प का रूप नहीं देखते हमारे प्रभु ने हमको ऐसा चाहा था हम ऐसा बने इसीलिए हम इसको इस दृष्टि से स्वीकार करके जुनून से लगते हैं दिलो जान से लगते हैं और वही हमारी पूजा बन जाती है जब आदमी अपना कर्म इस प्रकार से करता है कितने लोग कर्म करते हैं पैसा कमाना पैसा कमाना अरे छोड़ो चिंता क्यों करते हो यार फोकट की बात तो तुम कर्म में ऊंचाइयों क्यों नहीं प्राप्त करोगे कर्म में दक्षता लाओ नई टेक्नोलॉजी लाओ नया तरीका लाओ नई सृजनात्मकता लाओ कर्म को बढ़िया पूजा बनाओ अगर ये शिक्षा देनी है तो हनुमान जी से हनुमान जी को तो एक काम दे दो तो आप समझ लो वो हो गए असंभव शब्द तो उनकी हम्म, डिक्शनरी में शब्द कोश में असंभव शब्द ही नहीं हमारे लक्ष्मण लाल जी को जो है वो जब हम्म, आघात हुआ औषधि चाहिए थी वगैरह तो बड़ी मुश्किल है असंभव है हिमालय से कौन लाएगा संजीवनी बूटी और किसी को पता नहीं था हनुमान जी जैसे भी कोई होते हैं बोला उसमें कोई बड़ी बात नहीं ये करना है सो तो करना है पहुंच गए पूरा का पूरा कौन ढूंढे ढाले यहां संजीवन ढाले चलो पहाड़ी पूरा आज भी लंका में वो पहाड़ भी विद्यमान है लोग अभी लंका गए कुछ यहाँ जी टीवी वाले कोई कैमरा शैमरा लेके गए थे उनको वो पूरा पहाड़ दिखाए बड़ा ये हनुमान जी लाए थे पहाड़ खड़ा वाला भी दिखता है वहां पे पहाड़ सबका सब वहां पे भगवान बैठे वहां चरण चिन्ह भी है निश्चित रूप से आप समझ लीजिए लंका जो है ना थोड़े दिन बाद एक राम जी का बहुत बड़ा तीर्थ बनने वाला है जैसे मुस्लिम लोग मक्का मदीना जाते हैं ना हमारे हिंदू लोग लंका की यात्रा थोड़े समय में करेंगे थोड़ा भी राजनीतिक उथल पुथल है इतना बड़ा तीर्थ बना हुआ है सीता जी जहां बैठी थी अशोक वाटिका भी है आप लोग कभी तो कभी मौका मिले ना एनटीसी वाले हाँ, घूम के आना लंका सुंदर है शुद्ध है निर्मल है हमारे राम जी से जुड़ा हुआ स्थान है यहां पे सेतुबंद रामेश्वर से प्रारंभ होते हुए वो आपको आज भी पत्थर तैरते दिखाई पड़ते हैं वहां पे जिस समय जाओ आप रामेश्वर आप लोग में से कोई तीर्थ करके आए होंगे निश्चित रूप से पूरा का पूरा फुल वो अमेरिका के नासा वालों ने सैटेलाइट से चित्र लिए समुद्र के अंदर पुल दिखाई पड़ा पूरा का पूरा पुल दिखाई पड़ता है अनेकों जगह टूट गया है सब का सब यहां से प्रारंभ होते पूरी सत्य कथा है वहां रावण जहां रहता था जहां सीता जी थी जहां हनुमान जी ने ये करा जहां वो करा तो वो हनुमान जी वहां पहाड़ी ले आए थे हनुमान जी के चरित्र में उनको जब बताया गया कि सुग्रीव ने बोला आप मंत्री अगर ये आपकी आज्ञा है ये हमको काम करना है हमको सेवा करनी है ये थोड़ी बोला है कि एक्सपीरियंस नहीं है हमको बोला एक्सपीरियंस नहीं तो हो जाएगा एक्सपीरियंस जब करना ही है तो करना है घर में कोई बीमार हो गया तो फिर बोलते हो क्या एक्सपीरियंस नहीं है बीमारी शादी वादी करा है बोलते हो कि पहले एक्सपीरियंस नहीं है शादी का अरे नहीं ये तो हो जाएगा सब पता लग जाएगा रिश्ते नाते प्यार सेवा लालन पोषण सब हो जाएगा एक बार कूदो तो समर भूमि में है? तो हनुमान जी हमको बोलते हैं कि कभी चिंता मत करो जो धर्म करनी है करने योग्य है ईश्वर की आज्ञा समझ के काम करो अपने कर्म को पूजा बनाना मात्र वह सीख लो अपने आप से पूछो क्या तुमने किसी कर्म को पूजा बनाया है जीवन में अगर बना लिया है तो तुम्हारे जीवन में अर्थ का संकट कभी नहीं आएगा विलंब केवल तब तक है जब तक तुमने अपने एक किसी कर्म को पूजा नहीं बनाया है और पूजा अपने आप में अंत होता है व्यापार का तरीका नहीं होता है पहले तो पूजा करनी सीखनी पड़ती है पूजा में आप भगवान के चरणों में पुष्प डालते हो वो व्यापार नहीं होना चाहिए पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण आजकल पूजा की पद्धति बड़े कम लोग सीखते हैं पूजा में भगवान को पुष्प भगवान की आरती हम्म, सब चीजें प्रसाद लेना प्रसाद लेने की विद्या ये अत्यंत कल्याणकारी है ये सीखने योग्य है कई बार हमारी इच्छा होती है कि उसका थोड़ा बहुत शिविर लगाया जाए यहां पे कैसे पूजा करनी चाहिए पूजा अगर आदमी डेली करता है कि हाँ एक नियम है नियम को निपटा लो तो समझ लेना निपटाएंगे भगवान है ना निपटाना मत पूजा जब करना तो वो तुम्हारे प्रेम की धन्यता की अभिव्यक्ति के लिए होना चाहिए उससे कभी मत मांगना जो दिया है उसका धन्यवाद करने के लिए पूजा होती है आगे जो देते हैं वो भगवान अच्छा देंगे ये विश्वास रखो अरे महाराज जी क्या अच्छा देंगे यहां बीमार हो गए हैं यहां लुट गए हैं यहां बर्बाद हो रहे हैं और आप बोल रहे अच्छा देंगे बोलते देखो ऐसी बात कि कई बार हम कष्ट देते हैं हमको पता है लेकिन इसलिए कष्ट देते हैं क्योंकि तुमको कुछ सिखाना है कई बार शायद तुम्हारे अंदर प्रमाद हो रहा था अभिमान हो रहा था शिथिलता हो रही थी इसलिए हम देते हैं हम कभी भी तुमको कष्ट इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारे अंदर गलत धारणा है कि इससे सुख होता है फलाने से सुख होता है महाराज जी सब बड़ी कृपा हो गई है अभी क्या कृपा हो गई यार अरे बच्चों की शादी भी हो गई है नौकरी भी हो गया है बीवी भी ठीक ठाक है और ससुराल वाले भी ठीक ठाक है अवला अच्छा तो यही होता है ठीक ठाक हाँ? अगर तुम्हारी ठीक ठाक की परिभाषा ऐसी है तो समझ जाना हम आएंगे हिलाने के लिए तुम्हारे जीवन को हिलाएंगे तुमको पुनर्विचार करवाएंगे प्रभु इन चीजों में अपना तुम आश्रय मत बोलो हमारे चरणों में ढूंढो पूजा करो मारने के लिए नहीं वो पूजनीय है इसलिए पूजा करो वो भजनीय है इसलिए भजन करो पूजा कोई मांगने का तरीका नहीं होता प्रारंभ में देखो प्रेरणा देनी होती है तो बोलते हैं यार बच्चों को भी बोलते हैं बेटा पढ़ाई कर लो लॉलीपॉप देंगे पढ़ाई कर लो चॉकलेट देंगे अच्छा अगर तुम फर्स्ट आ जाओगे तो पिक्चर दिखाने ले चलेंगे अरे तुमका नया कपड़ा दिलवा देंगे शुरुआत में तो ठीक है लेकिन आप जानते हो ये बच्चों की भाषा है तुम पढ़ाई करोगे तो ज्ञानी होगे प्रबुद्ध होगे प्रकाश में जो होगे हाँ? असली बातें तो वो है ना इसीलिए पूजा मानने के लिए नहीं होती प्रेम से करना एक चीज जीवन में प्रेम से करने की शिक्षा और हनुमान जी से महान कौन सीख सकता है धर्माचरण करना हो तो हनुमान जी से सीखो कर्म में प्रेम करना हो तो हनुमान जी से सीखो जो काम करा है वो ऐसा करा है कि सदियों के लिए आदर्श बन जाए और वो भी निराभिमानता से करा है करके कोई बोझ ही नहीं आता है अगर आदमी ये रहस्य हनुमान जी के कर्म करने की कला नहीं सीखता है सफलता भी बोझा है असफलता आपको भगवान न करे आज थोड़ी सफलता मिल जाए पैर जमीन पर नहीं पड़ते हैं हमारे अनेकों नेताओं के तरीके से एक बार क्या कोई आदमी जो है सफल हो जाता है वो तो देवताओं की तरह दुर्लभ हो जाता है अरे महाराज दर्शन हो गए आपके बोला मतलब दर्शन ही होते हैं और कुछ नहीं होता वो तो पांच साल बाद आएंगे तुम्हारे पास हम दर्शन करेंगे सफलता कितनी भारी पड़ जाती कई लोग बड़े कम होते हैं सफलता के वह विनम्र होते हैं हनुमान जी को कभी सफलता भारी पड़ी क्या क्या कुछ करा उन्होंने राम जी की सन्निधि में जगदीश्वर के कृपा पात्र हैं कभी अभिमान नहीं करा रावण को जीत के आ रहे हैं कोई अभिमान का नामो निशान नहीं है उनके अंदर और डर चिंता शोक उस गली में नहीं होता जहां हनुमान जी रहते उस मोहल्ले में नहीं रहता जहां हनुमान जी रहते और कोई राक्षस भी आता है तो बोल के जाता है आज तो सत्संग मेला थी ना तो लंकिनी हनुमान जी जब गए तो मसक कर समान रूप गए थे अंदर पकड़े गए कहां चले गए फिर हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया फिर उसको मतलब ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है लेफ्ट वाला ही दिया राइट <laughs> वाला तो दिया बेचारे महिला थी और वो गिरी लहूलुहान हो गई और उठ के पता क्या बोलती आज तो सत्संग में मिला <laughs> राक्षस लोगों को भी जो है जब मिलते हैं तो उद्धार करते हनुमान जी के जीवन में न चिंता न शोक न अभिमान कर्म करने का ऐसा तरीका जो व्यक्ति सीख लेता है उसके जीवन में वो अपने कर्म के एक चीज को आप पूजा बना लो बस सबको चिंता मत करना और वो चीज जो आपके दिल में ईश्वर ने दी है ईश्वर की आज्ञा ईश्वर की आज्ञा समझना होता है ना वो अपने दिल में झांक के देखो अंत प्रेरणा कर्म के क्षेत्र में उसकी पूजा बनाओ ये हनुमान जी की शिक्षा है धर्म अर्थ कामना की पूर्ति मनुष्य के अंदर एक तो पहले प्रारंभ में ब्रह्मचर्य का पालन होता है खूब शिक्षा स्वस्थता ज्ञान प्रबुद्धता कुछ समय तो अच्छी तरीके से सुस्थता प्राप्त नहीं स्वच्छंदता से तो जीवन प्रारंभ करते हैं जीवन भर रोगी बने रहते हैं हर चीज की प्राप्ति करना लेकिन मुझे धर्म को आधार बना के करो प्रारंभ में अपने आप को बढ़िया स्वस्थ रखो सुंदर रखो और उसके उपरांत कामना की पूर्ति का रहस्य संवेदना संवेदनशीलता ही आपको हर पल कामना की पूर्ति का रहस्य देती है यह हनुमान जी की शिक्षा है आप कहीं पे जाओ नजारे देखो तीर्थ में जाओ कहीं भोजन लो प्रसाद लो भजन सुनो कई लोगों को हर जगह आनंद आता है जो मिलता है जो उनकी कामना होती पूर्ति में इतनी धन्यता हो जाती है और कई लोग प्यासे क्यों होता है और भगवान कुछ और देते हैं ना बढ़िया खाते तो ज्यादा तृप्त तो हो जाते बोलते हैं यार तुम्हारे जैसों को हम जो भी देते हैं ना तुम कभी तृप्त नहीं होते बता रहे हो एक चीज जो दे रहे हम खुद लाके तुमको दे रहे हैं उसमें सुखी हो नहीं रहे हो और कौन लाएगा यार हमारे अलावा ईश्वर के अलावा तुमको लाके कौन देगा जो ला रहे हैं हम ही ला रहे हैं तुम्हारे पास और आपको तो प्रमाण चाहिए गीता के नवे अध्याय में देख लेना अनन्यास चिंतो माम ये जना पर तेषाम नित्यादियुक्ता नाम योग क्षेम वहम हम हम तुम्हारे जीवन में योग और क्षेम सर पे ढो के लाते जो जो तुमको चाहिए अप्राप्त की प्राप्ति कराने में तुमने तो हाथ पे रेला दिए यार यहां बैठ के परिस्थिति कौन ला रहा है जगदीश्वर बनाते हो परिस्थिति और जो तुमको प्राप्त है उसका रक्षण करना उसको क्षेम बोलते हैं अप्राप्त की प्राप्ति को योग बोलते हैं योग क्षेम वहां मेरा एल वालों ने गीता से ये ले लिया है और बोला भी नहीं कॉपीराइट भी नहीं बताई कि गीता से हाँ? उनके पूरे एल वालों के ही एम्बुलेंस में योग क्षेम और महाप्रेम उनका तो मतलब है बीमा निकालो यार तुम्हारा योग क्षेम बीमा का पैसा लाओ और सब योग क्षेम हम हैं भगवान बोलते हैं ये निश्चित समझो कि जीवन में तुमको हाथ पैर हिलाना तो, तो सौभाग्य तुम्हारा प्रेम है वही तुम करोगे ना जो तुम्हारी अंतर प्रेरणा से हमने तुमको प्रेम दिया है उसी प्रेम के क्षेत्र में काम करो इंजॉय करो कर्म को कर्म करने का आनंद लो और फल तो हम ला के देंगे और उस समय तुम पूर्ण संवेदना के साथ धन्यता से अगर किसी एक पल को जी पाते हो एक पल को जीना सीखो ईश्वर की धन्यता कृपा अनुभव करो आपके जीवन में सब मनोकामना की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा जो भी लाएंगे जो भी मिलेगा आप जीना ना सीख जाओगे जो आदमी हर पल जीना नहीं सीखता है ना उपलब्धता नहीं रखता उसकी कामना की पूर्ति नहीं हो पाती कहीं भी चले जाओ हम थोड़े दिन पहले पचमढ़ी गए थे पचमढ़ी में बड़े बढ़िया बढ़िया पानी के झरने वरने सब है पहाड़ों में तो हम कहीं पर रुके थे रेस्ट हाउस में एक बंगालियों का ग्रुप आ रहा था वो दर्शन करके आ रहा था झरने से वहां पर पूरा ग्रुप तो हमने वो बाबू मोशाई से पूछा बोला क्यों भाई कैसा था अरे क्या था यार कुछ भी नहीं था पहाड़ से पानी गिरता था <laughs> यार पचमढ़ी आया और क्या देखने आया क्या नीचे से ऊपर पानी जाएगा क्या ऊपर से नीचे तो गिरेगा पानी और पहाड़ी का सुंदर नजारा है और सुंदर जो है पेड़ है और कैसे पानी गिर रहा है कैसे वहां पे अद्भुत लगता है वो देखने की दृष्टि होनी चाहिए ना अकल होनी चाहिए तुमको जो भी हम जीवन में देंगे तो क्या है तो बस पड़ गिर रहा था हमने बोला एक काम करना है या तुम कभी तीरथ में मत जाना नहीं तो जाओगे गंगा जी हवा है तक तो, क्या था गंगा जी पानी गिरा था गहरा था क्या गंगा जी थी वहां हरिद्वार में कुछ तो है नहीं दोनों छोर पे घाट थे पीछे पानी बह और वो पहाड़ में गए वहां ऊपर क्या था वहां पहाड़ पे आया थोड़ी बर्फ भी दिखाई पड़ रही थी कुछ भी नहीं था वहां ऐसा आदमी क्या उसको कोई लॉटरी भी खोल दो तो कुछ मिलेगा क्या मूर्ख लोग बिल्कुल कामना की क्या पूर्ति करेगा कामना की पूर्ति के लिए जो मिलता है ना उस पल में जीना सीखो पूरी संवेदना के साथ धन्यता के साथ प्रसाद बुद्धि के साथ किसी पल को जीना सीखो जो मिलता है धन्यता से उस उसको देखना सीखो देखो एक लोग होते हैं बहुत भूतकाल में जीते हैं एक होते हैं बहुत भविष्य में जीते हैं और बड़े कम होते हैं जो वर्तमान में जीते हैं जो भूतकाल में जीते हैं उनके सामने कुछ भी दे दो बोले अरे ये भी कोई बात है उन्नीस सौ पचास में जो था ना वो कहां है उनके लिए गाड़ी उन्नीस सौ पचास से आगे बढ़ी ही नहीं भैया और <laughs> नहीं आजकल के तो देखो यहाँ पे क्या रोडे बोलते ये भी कोई बात है उन्नीस सौ पचास में तो ऐसा था अब उसको हम क्या दे तुम कौन सी मनोकामना की पूर्ति करोगे और दूसरे सैंपल होते हैं उनको सदैव उनको एक टीवी सीरियल बना था मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो भी मिला उस समय थोड़ी जीता है एक अंडा मिला है एक अंडे से जो है एक मुर्गी आई और एक मुर्गी से फिर तो बहुत सारे अंडे आ जाएंगे और जब बहुत सारे अंडे आ जाएंगे तो बहुत मुर्गियां हो जाएंगी और इतनी मुर्गियां हो जाएंगी तो इतने डेली अंडे निकला करेंगे अभी तो हम साइकिल में बेचने जाते हैं फिर तो गाड़ी लेनी पड़ेगी यार और पता लगा फिर एक पूरा जो है वो मुर्गी का क्या बोलते हैं पोल्ट्री फार्म पोल्ट्री फार्म बनाना पड़ेगा और पोल्ट्री फार्म का नाम ये रखेंगे और ऐसा करेंगे बड़ा ऐसा बोर्ड बना लेंगे और उधर जो है गाड़ियां हमारे पोल्ट्री फार्म से चारों दिशाओं में गाड़ियां जाया करेंगी और फिर तो हम भी कार में जाएंगे और घर में जाएंगे फिर उसके बाद फिर हमारे पास रिश्ते आएंगे ये ये सेठ जी के घर में लड़की को जाना है और शादी के रिश्ते आया करेंगे उसके बाद फलानी फलानी बीवी ऐसी होनी चाहिए भैया दूसरी को हमने स्वीकार करेंगे और ऐसी बीवी लाएंगे फिर और फिर कम से कम दो चार दर्जन बच्चे हो जाएंगे और फिर उसके बाद पापा पापा पापा और फिर ज्यादा मुसीबत करेंगे एक लपड़ मारे और अंडा जो आया है सामने उसका कोई महत्व नहीं कामना नहीं कोई आनंद नहीं मुंगेरी लाल के हंसी कई लोगों की शक्ल दिखाई पड़ती देख के पता लग जाता है ये भविष्य में जीव है असीम सपने वाले भगवान इस समय सर पे ढोके ला रहे हैं सोचो तो आप मेरा कितनी विचित्र बात है खुद हमारे परमात्मा प्रभु जगदीश्वर वो आपको वर्तमान की परिस्थितियां खुद बना के ला के दे रहे हैं परस रहे हैं एक लड्डू के बाद फिर हम और लड्डू खाएंगे फिर लड्डू की दुकान बना तुम्हारी कौन सी कामना पूरी होगी यार हाँ? इसीलिए अगर कामना की पूर्ति जीवन में करनी है हर पल जीना है भोजन के समय भोजन में ध्यान दो भजन के समय भजन में ध्यान दो पूजा के समय पूजा में ध्यान दो सेवा के समय सेवा में ध्यान दो और कम से कम सूर्य उदय हो रहा हो तो प्रणाम करो सूर्य नमस्कार करो हमें जीना सीखो हर पल जीना सीखो ये सूत्र हनुमान जी से मिलता है हनुमान जी हर पल को जीते हैं उनके लिए कभी आप पूरे हनुमान जी की चालीसा में देख लेना कभी मुंगेरी लाल की तरह बैठ के नहीं सोच रहे होंगे यार ये हो जाएगा उसके बाद फिर हम जो है प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएंगे अभी तो सुग्रीव ने हमको मिनिस्टर बनाया है और फिर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और प्राइम मिनिस्टर के बाद और फिर ऐसा होगा कितनी आश्चर्य की बात कभी नहीं चिंता कर रहे और न भूतकाल की चिंता कर रहे भूतकाल से शिक्षा ले लेनी चाहिए भविष्य के बारे में आशा होनी चाहिए लेकिन जीना तो वर्तमान में है ना? ये शिक्षा हनुमान जी से तुमको जो देंगे तुम जगे गए हमारे कालिदास जी महाराज ने बादल देखे पूरा साहित्य लिख दिया मेघदूत ऐसे कुछ देख लिया उसमें जीवन की कहानी देख ली उसमें वो हमको शिक्षा हनुमान जी से प्राप्त होती है और चौथा फल होता है मोक्ष मोक्ष अपने अभिमान से मुक्ति होती है अगर अपने अभिमान से मुक्ति नहीं करी तो संसार फंस गए रावण का दोष ही क्या था मेहनत तो खूब करी थी सेवा करी थी जब लंका में हनुमान जी गए थे तो देखा उन्होंने सोने की लंका थी अच्छा प्रशासक था लोगों की व्यवस्था करता था धन दौलत बाहर से लाता था खूब खाते पीते हट्टे कट्टे लोग घूमते थे सब अच्छा लेकिन समस्या अभिमान की भयंकर गोस्वामी जी तो हनुमान जी जहां रावण की बात करते हैं बोलते रावण महाअभिमानी छोटा मोटा अभिमान नहीं है यार उसका महाअभिमान अगर जीवन में अनेकों प्रकार के काम करे और अभिमान नहीं खत्म हुआ दुखी हो गए तो मुक्त नहीं हो पा पीड़ा केवल अभिमान से होती है कई बार जीवन में भगवान कष्ट भी देते हैं क्योंकि अभिमान का काटा निकालना चाहिए अनजाने में अभिमान आ गया हमारे अंदर जिसके अंदर अभिमान आता है भगवान खुद उसका अभिमान दूर करते हैं रामायण में नारद जी की कथा पता है ना आप लोगों को नारद जी के अंदर अभिमान आ गया कि देखो कामदेव हमारे पास आए और हमारे अंदर क्रोध भी नहीं आया आया देखो शिव जी को तो क्रोध आया था और हमको क्रोध भी नहीं आया शिव जी से सीनियर हो गए शिव जी से भी महान हो गए ये विचार मन के अंदर जहां आया बोला चलो शिव जी को पहले बात बताते जाके हम्म? नारायण नारायण वीणा उठाई और शिव जी के पास पहुंच गए महाराज जी ऐसा ऐसा हुआ और कामदेव आए और कामना तो दूर महाराज जी गुस्सा तक नहीं आया आप समझ रहे ना हम क्या बोल रहे हैं गुस्सा तक नहीं आया शिव जी ने एक बार नहीं सुना तो महाराज जी क्रोध भी नहीं आया हाँ, आपको तो आया था ना अब गुस्सा आ गया तो गुस्सा तक नहीं आया फिर उसके बाद काम देवता तो हमारे चरणों में गिर गए महाराज हे महादेव जी और फिर मैंने क्षमा अब बाकी बात तो समझदार है आप जानते हैं अब क्या हो गया महादेव जी बोलते हैं हाँ नारद जी आप काम तो सब समझ रहे हैं क्या चक्कर है अब एक काम करना भगवान विष्णु आपके इष्ट देवता है ना ये बात उनको मत बताना बाकी चीज देखा ना देखा ईर्षा कर रहे हैं हमसे वो चाहते नहीं हमारी महिमा पता लगे उनसे तो कुछ नहीं बोले सीधे नारायण नारायण करते विष्णु भगवान पर पहुंच गए उनको बताई बात भगवान विष्णु बोला हमारा भगत आदमी और अभिमान में पड़ रहा है काम क्रोध तो नहीं आया लेकिन काम देवता की विजय हो गई क्योंकि इसमें काम क्रोध को जीतने का अभिमान आ गया रतिमान वो कैंसर है कि संसार के सब मुसीबत बंधन आ जाते थोड़ी बहुत सफलता क्या प्राप्त कर ली तुम तो ऐसे हवा में होने लगे अभिमान को दूर करना ही सब संसार के बंधनों को दूर करना होता है और हनुमान जी से बड़ा कौन व्यक्ति है जिसके अंदर अभिमान का नामो निशान नहीं है और परम भक्ति है भगवान इसलिए जो दायक फलचार धर्म अर्थ काम मोक्ष अगर हनुमान जी का ऐसे स्मरण कर लिया तो आपके जीवन में कुछ नहीं बचेगा सब सिद्ध हो जाएगा और अगर ये नहीं करा तो गोल गोल चक्कर संसार का काटते रहोगे आज पहुंचते नहीं हमारी गाड़ी ऐसी होती है जो दलदल में फंसी है पहिया भी चल रहा है इंजन भी चल रहा है पेट्रोल भी लग रहा है मीटर हमारा डैशबोर्ड भी दिखा रहा है कि गाड़ी चल रही है धुआं भी निकल रहा है गर्म भी हो रही है गाड़ी हाँ? लेकिन आगे परिवर्तन ही नहीं होता जहां खड़े वहीं खड़े रहते हैं तो हनुमान जी का भजन बहुत आवश्यक है आपके थोड़े दिन का जीवन मिला है आगे आपका विकास हो कल्याण हो मंगल हो जीवन के लक्ष्यों की सिद्धि हो तो कल से ही श्री गणेश करो सवेरे सवेरे सवेरे सवेरे मतलब समझ रहे हो ना जब भी उठो हम <laughs> ज्यादा उसको विशेषित नहीं करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त जब भी आप उठो उस समय स्नान ध्यान करके उस फ्रेश माइंड से स्वस्थ शरीर है फ्रेश माइंड है थोड़ा बस शुद्ध होके शौच से निवृत्त होके एकांत बैठो प्रेम से हनुमान जी को मंत्र इनके स्मरण मात्र से भगवान हमको ऐसी आशीर्वाद मिले कि हम भी जीवन में धर्माचरण करें अर्थ काम की सिद्धि हो जाए और अंततः मुक्त होके जीवन जिए मुक्त होगा मतलब स्वस्थ होके बंधन वाला जीवन बीमारी का जीवन होता है अब बीमारी के जीवन में कोई सुखी होता है क्या तो स्वस्थ होके जीवन जिए हनुमान जी हमको आपसे यही प्रेरणा मिले यही शिक्षा मिले और एक बार प्रेम से हनुमान जी की चालीसा का पाठ करो और इसके दूसरे रहस्य फिर हम लोग धीमे धीमे आगे देखते जाएंगे तो अगली बार फिर हम लोग दूसरे दोहे के ऊपर प्रवेश करेंगे बहुत सुंदर दोहा ये दो दोहे तो इतने बढ़िया है कि आप हम भी जब इन पर चिंतन कर देना हमारी इच्छा है सामने घड़ी लगानी क्योंकि हम घड़ी देखने भूल जाते हैं ना आनंद आता है हनुमान जी की चालीसा में रखने में तो भैया हमको जुगाड़ करना पड़ेगा बड़ी कोई डिजिटल घड़ी दूर से हमको दिखाई पड़ जाए कोई विचार है तो ऐसे ही समय रुक जाए हनुमान जी का विजिट करते इससे बड़ा सौभाग्य क्या है तो इसके साथ आज का हम लोग सत्संग समाप्त करते हैं और अब थोड़ा राम नाम का संकीर्तन करके फिर हम लोग फिर आरती करेंगे श्री राम जय राम जय जय राम